प्रवचन नंबर 24 चिन्मय कौन और जन्मा कौन भाग एक भगवान श्री आपने कहा कि यदि शरीर की बात करोगे तो मैं कहूंगा मरण धर्म है और आत्मा की बात करोगे तो मैं कहूंगा तुम कभी जन्मे ही नहीं फिर बुद्ध कहते हैं कि बस एक बबूला था जो मिट गया मैं था ही नहीं तो जाऊंगा कहाँ तो फिर चिन्मय कौन और अजन्मा क्या एक तो सागर है लहरें आती हैं और चली जाती हैं और सागर बना रहता है लहरें सागर से जरा भी अलग नहीं फिर भी लहरें सागर में है लहरें सिर्फ सागर में उठे रूप आकार बनेंगे मिटेंगे जो लहर बनी ही रहे उसको लहर कहना बेकार लहर का मतलब यह है कि आई भी नहीं और गई लहर शब्द का भी मतलब यही है उठी भी नहीं कि जा चुकी जिसमें उठती है वो सदा है जो उठती है वो सदा नहीं तो सदा की छाती पर परिवर्तनशील का नृत्य है सागर तो अजन्मा है लहर का जन्म होता है सागर की कोई मृत्यु नहीं है लहर की मृत्यु होती है लेकिन लहर भी अगर ये जान ले कि मैं सागर हूं तो जन्मने और मरने के बाहर हो गई जब तक लहर समझती है कि मैं लहर हूं तभी तक जन्मने और मरने के भीतर जो भी है वो अजन्मा है उसकी कोई मृत्यु नहीं क्योंकि जन्म होगा कहां से शून्य से कुछ पैदा नहीं होता मृत्यु होगी कहां शून्य में कुछ खोता नहीं तो जो भी है अस्तित्व वो तो सदा है समय कुछ भी अंतर नहीं कर पाता काल से कोई रेखा नहीं पड़ती लेकिन ये जो अस्तित्व है ये अस्तित्व हमारी पकड़ में नहीं आता क्योंकि हमारी इंद्रियों की पकड़ में सिर्फ रूप आता है आकार आता है नाम रूप के अतिरिक्त हमारी इंद्रियां कुछ भी पकड़ नहीं पाती ये बहुत मजे की बात है कि सागर के किनारे आप सैकड़ों बार खड़े हुए होंगे और अनेक बार कहा होगा कि मैं सागर देख कर लौटा हूं लेकिन देखिए आपने सिर्फ लहरें सागर आपने कभी देखा नहीं सागर कभी दिखाई पा सकता नहीं आप जो भी देखेंगे वो लहर इंद्रियां सिर्फ ऊपर जो है उसे पकड़ पाती भीतर जो है वो छूट जाता है ऊपर भी आकार भर को पकड़ पाती कार के भीतर जो निराकार है वो छूट जाता तो नाम रूप का जो जगत है वो इंद्रियों के देखने की वजह से पैदा हुआ है वो कहीं है नहीं जो भी नाम रूप में है वो सब जन्मा है और मरेगा जो उसके पार है वो सदा है ना वो जन्मा है ना वो मरेगा तो जब बुद्ध कहते हैं कि बबूले की भांति में उठा तो वे दो बातें कर रहे हैं सच पूछा जाए तो बबूले में होता क्या है अगर बबूले में हम प्रवेश करें तो हवा का थोड़ा सा आयतन बबूले के भीतर होता है उसी हवा का जो बबूले के बाहर अनंत होकर फैली है इस विराट हवा के और बबूले के बीच की हवा के बीच पानी की एक पचल पतली सी दीवार होती है एक फिल्म की दीवार जरा सी पानी की पतली दीवार जिसको दीवार का तो कहना भी ठीक नहीं सिर्फ पानी की पतली फिल्म है वो पानी की जरा सी पतली फिल्म हवा के एक छोटे से हिस्से को कैद कर देती पानी की पतली फिल्म और हवा का छोटा सा हिस्सा कैद होकर बबूला बन जाता स्वभावता सब चीजें बड़ी होती हैं बबूला भी बड़ा होता है और बड़े होने में टूटता है और टूट जाता है फिर हवा बाहर की हवा से मिल जाता है फिर पानी पानी में गिर जाता है बीच में जो निर्मित हुआ था वो इंद्रधनुषी अस्तित्व था रेनबो एग्जिस्टेंस कहीं कुछ अंतर नहीं पड़ा था शाश्वत प्राणों में सब ही का लेकिन एक रूप निर्मित हुआ वो रूप जन्मा और मरा हम भी अपने को बबूले की तरह देखें तो रूप का बनना और मिटना है भीतर जो है वो सदा से है लेकिन हमारी आइडेंटिटी हमारा तादात्म होता है बबूले से तो मैं कहता हूं कि अगर आपके शरीर को देख के कहूं तो कहूंगा कि आप मरण धर्म है मर ही रहे हैं जन्मे उसी दिन से मर रहे हैं मरने के सिवाय आपने कोई काम ही नहीं किया बबुली को फूटने में सात क्षण लगते होंगे आपको फूटने में सत्तर वर्ष लगेंगे समय की अनंत धारा पर सात क्षण और सत्तर वर्ष में कोई भी फर्क नहीं है सब फर्क हमारी छोटी आंखों के फर्क अगर समय अनंत है न उसका कोई प्रारंभ है और न कोई आदि है तो सत्तर साल में और सात क्षण में कौन सा फर्क होगा हाँ समय अगर सीमित हो सौ ही साल का हो तो फिर सत्तर साल में और सात क्षण में फर्क होगा सात क्षण बहुत छोटे होंगे सत्तर साल बहुत बड़े होंगे लेकिन अगर दोनों तरफ कोई सीमा नहीं न इस तरफ कोई प्रारंभ हो उस तरफ कोई अंत तो सात क्षण में और सत्तर साल में क्या फर्क है हमें फिर भी भ्रम हो सकता है कि सात क्षण में और सत्तर साल में फर्क है लेकिन अगर हम समय की पूरी धारा को देखें तो क्या फर्क अनंत की तुलना में सात क्षण भी उतने ही हैं सत्तर वर्ष भी उतने कितनी देर में फूट जाता है बबूला ये बड़ा सवाल नहीं है बनता है तभी से फूटना शुरू हो जाता है इसलिए मैंने कहा कि शरीर को देख कर कहें शरीर से मेरा मतलब है नाम रूप से निर्मित जो दिखाई पड़ रहा है और आत्मा से मेरा मतलब है नाम रूप के गिर जाने पर भी जो होगा नाम रूप नहीं थे तब भी था आत्मा से मेरा मतलब है सागर और शरीर से मेरा मतलब है लहर और ये दोनों ही बातें एक साथ समझनी जरूरी है नहीं तो इन दोनों के बीच अगर भ्रम पैदा हो तो जगत की सारी कठिनाइयां खड़ी होती भीतर हमारे तो वो है जो कभी मर नहीं सकता इसलिए गहरे में हमें सदा ही ऐसा लगता है मैं कभी ना मरूंगा लाखों लोगों को हम मरते हुए देख लें फिर भी भीतर ये प्रतीक नहीं होती कि मैं मरूंगा इसकी गहरे में कहीं कोई ध्वनि पैदा नहीं होती कि मैं मरूंगा सामने ही लोग मरते रहे और फिर भी हमारे भीतर न मरने का भाव कहीं सजग होता है किसी गहरे तल में मैं नहीं मरूंगा ये बात हमें जाहिर ही होती माना कि बाहर के तथ्य झुठलाते और बाहर की घटनाएं कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना मरूंगा तर्क कहते हैं कि जब सब मरोगे तो तुम भी मरोगे लेकिन सारे तर्कों को काट कर भी भीतर कोई स्वर कहीं ही चला जाता है कि मैं नहीं मरूंगा इसलिए इस जगत में कोई आदमी कभी भरोसा नहीं करता कि वो मरेगा इसलिए तो हम इतनी मृत्यु के बीच जी पाते नहीं तो इतनी मृत्यु के बीच तत्काल मर जाए जहां सब मर रहा है जहां प्रतिपल हर चीज मर रही है वहां हम किस भरोसे जीते आस्था क्या है जीने की इंटरेस्ट कहां है जीने का किसी परमात्मा में नहीं आस्था इस आधार पर खड़ी है भीतर से हम कितना ही मृत्यु कहे कि मरते हैं भीतर कोई कहे चला जाता है कि मरते कोई आदमी अपनी मृत्यु को कंसीव नहीं करता उसकी धारणा नहीं बनती कैसे ही धारणा बनाए वो पाएगा कि वो तो बचा हुआ है अगर वो अपने को मरा हुआ भी कल्पना करे देखे तो भी पाएगा कि मैं देख रहा हूं मैं बाहर खड़ा हूं मृत्यु के भीतर हम अपने को कभी नहीं रख पाते सदा ही बाहर खड़े हो जाते मृत्यु के भीतर कल्पना में भी रखना असंभव है सत्य में रखना तो बहुत मुश्किल हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी जिसमें मैं मर गया क्योंकि उस कल्पना में भी मैं बाहर खड़ा देखता रहूंगा वो कल्पना करने वाला बाहर ही रह जाएगा वो मर नहीं पाएगा ये जो भीतर का स्वर है वो सागर का स्वर है जो कहता है मौत मौत कभी जानी नहीं लेकिन फिर भी हम मौत से डरते हैं ये हमारे शरीर का स्वर है और इन दोनों के बीच कंफ्यूजन है भीतर के स्वर को हम शरीर का स्वर जिस दिन समझ लेते हैं उसी दिन प्राण कपने लगते हैं उसी दिन हम बढ़ाने लगते हैं क्योंकि शरीर तो मरेगा इसे हम कितना ही झुटलाएं और कितना ही विज्ञान खड़ा करें और कितनी ही चिकित्सा के शास्त्र बनाए और कितनी ही दवाइयों को घेर के बैठ जाए और कितने ही चिकित्सकों को चारों तरफ खड़ा कर लें फिर भी शरीर एक क्षण को भी नहीं कहता कि मैं बचूंगा शरीर के पास कोई स्वर नहीं है मृत्यु का वो जानता है कि मैं मरूंगा शरीर जानता है वो बबूला है और हम जानते हैं कि हम बबूले नहीं हैं जिस दिन हम समझते हैं कि हम बबूले हैं हमारे जीवन का सारा उपद्रव शुरू हो जाता है वो जो शाश्वत है हमारे भीतर जैसे ही लहर के साथ तादात्म कर लेता है वैसे ही कठिनाई में पड़ता है इस तादात्म का नाम अज्ञान है इस तादात्म के टूट जाने का नाम ज्ञान है कुछ फर्क नहीं होता सब चीजें फिर भी वैसी ही होती शरीर अपनी जगह होता है आत्मा अपनी जगह होती है एक भ्रांति टूट गई होती है तब हम जानते हैं कि शरीर मरेगा इससे हम भयभीत नहीं होते क्योंकि इसमें भयभीत होने का उपाय नहीं है शरीर मरेगा ही भयभीत भी होने का वहां उपाय है जहां बचने की संभावना हो आप ऐसी स्थिति में कभी भयभीत नहीं होते जहां बचने की संभावना ही नहीं होती बचने की संभावना से ही भय है युद्ध के मैदान पर सैनिक जाता है तो घर से जब तक जाता है तब तक डरा रहता है युद्ध के मैदान पर भी कपा रहता है लेकिन जब बचाव का सब उपाय समाप्त हो जाता और बम उसके ऊपर ही गिरने लगते हैं तब वो निर्भय हो जाता तब वो आदमी जो कि जरा सी गोली चल जाती तो घबरा जाता है वो बम गिरते रहते हैं गोलियां चलती रहती हैं और बैठ के ताश भी खेलते एक बिल्कुल साधारण आदमी कुछ विशेष आदमी नहीं है वो स्थिति विशेष है स्थिति ऐसी है कि जिसमें मौत से डरने का कोई अर्थ नहीं मीनिंगलेस है मौत इतनी प्रकट है क्या बचने का कोई सवाल नहीं फिर भी युद्ध के मैदान पर भी बचने की संभावना है क्योंकि कोई मरता है कोई बचता है इसलिए थोड़ा भय सा रखता है लेकिन मृत्यु के मैदान पर तो बचने की कोई संभावना नहीं कोई भी नहीं बचता इसलिए अगर ये भ्रांति हमारी टूट जाए कि मैं शरीर हूं तो उसी के साथ मृत्यु का भय चला जाता है क्योंकि शरीर मरेगा ये सुनिश्चितता हो जाती ये नियति डेस्टिनी हो जाती इसका उपाय नहीं है ये भाग्य है शरीर का इसमें रक्ति भर हेरफेर नहीं है एक तरफ ये स्पष्ट हो जाए कि शरीर मरेगा ही मृत्यु शरीर का स्वभाव है मरेगा ऐसा कहना भी ठीक नहीं है वो मरा हुआ ही है और जैसे एक तरफ ये स्पष्ट हो वैसे ही दूसरी तरफ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि वो जो शरीर के पार है वो कभी जन्मा ही नहीं इसलिए मरने का कोई मतलब वहां से भी भय तिरोहित हो है क्योंकि जो नहीं मरेगा उसके लिए भय का क्या कारण और जो मरेगा ही उसके लिए भी भय का कोई कारण नहीं भय इन दोनों के मेल से पैदा होता है भय इससे पैदा होता है कि भीतर कोई कहता है कि बचूंगा और बाहर कोई कहता है कैसे बचोगे और ये दोनों चीजें मिश्रित हो जाती ये दो स्वर अलग अलग वीणाओं से उठ रहे हैं ये पता नहीं चलता ये स्वर एक दूसरे में खो जाते हम इसे एक ही संगीत समझ लेते अज्ञान में निरंतर भय है मृत्यु का फिर भी ऐसे जिए जाने की चेष्टा है जैसे मौत नहीं अज्ञानी जीता ऐसे ही है जैसे मौत नहीं यद्यपि प्रतिपल डरा हुआ जीता है कि मौत है ज्ञानी ऐसे जीता है जैसे मौत नहीं और प्रतिपल जान के जीता है कि किसी भी क्षण मौत हो सकती है और मौत नहीं लेकिन तल का फासला हो गया दो तलों पर अस्तित्व टूट गया परिधि अलग हो गई केंद्र अलग हो गया लहर अलग हो गई सागर अलग हो गया रूप अलग हो गया अरूप अलग हो गया फिर ऐसा नहीं कि वो रूप से भाग जाता है ये भी एक बहुत अद्भुत बात है कि जीवन के जो भ्रांतियां हैं वो हमारे जानने से मिटने वाली भ्रांतियां नहीं जानने से सिर्फ हमारी पीड़ा मिटती है जिसे शंकर ने निरंतर उदाहरण लिया है कि राह पर पड़ी है रस्सी और अंधेरे में दिखाई पड़ जाती है कि सांप है लेकिन वो उदाहरण बहुत ठीक नहीं क्योंकि उसके पास आ जाने पर पता चल जाता है कि रस्सी है और एक दफा पता चल जाए तो फिर आप कितने ही दूर चले जाए फिर आपको सांप दिखाई नहीं पड़ सकता लेकिन जीवन का भ्रम इस तरह का नहीं जीवन का भ्रम ऐसे है जैसे आप सीधी लकड़ी को पानी में डाल दें वो तिरछी दिखाई पड़ आप बाहर निकाल के फिर देख लें कि सीधी है फिर पानी में डाल दें वो फिर तिरछी दिखाई हाथ डाल के पानी में टटोल पाएंगे कि सीधी है लेकिन फिर भी तिरछी दिखाई दिखेगा आपके ज्ञान से उसके तिरछे होने का रूप नहीं मिटता हाँ लेकिन तिरछी है इसका भ्रम मिट जाता है तो, तो जीवन का जो हमारा भ्रम है वो सांप और रस्सी वाला भ्रम नहीं है वो हमारा पानी में डाली गई सीधी लकड़ी का तिरछा दिखाई देने वाला भ्रम भली भांति जानते हैं कि लकड़ी तिरछी नहीं फिर भी तिरछी दिखाई पड़ती बड़े से बड़ा वैज्ञानिक जो सब तरह से जांच परख कर चुका कि पानी में जाने से लकड़ी तिरछी नहीं होती है फिर भी उसको भी लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ती वो तिरछी दिखाई पड़ना इंद्रिय गत है वो आपके ज्ञान से उसका कोई लेना देना नहीं है हाँ अब आप तिरछा मान के व्यवहार नहीं करेंगे अब आप तिरछा मान के व्यवहार नहीं करेंगे अब आप मान के चलेंगे कि लकड़ी सीधी और देखते रहेंगे कि लकड़ी तिरछी ये दो तल पर बढ़ जाएंगी बातें जानने के तल पर लकड़ी सीधी होगी देखने के तल पर लकड़ी तिरछी होगी इन दोनों में कोई भ्रांति नहीं रह जाएगी जीने के तल पर शरीर होगा बाहर के तल पर शरीर होगा अस्तित्व के तल पर आत्मा होगी खो नहीं जाएगा ऐसा नहीं कि ज्ञानी को संसार खो जाता है वो संसार नहीं खो जाता ज्ञानी को संसार ठीक वैसे होता जैसा आपको होता शायद और भी प्रगाढ़ होके और साफ होके हो और स्पष्ट होता है रुआ रुआ अस्तित्व का साफ उसकी दृष्टि में खो नहीं जाता लेकिन अब वो भ्रम में नहीं पड़ता अब वो जानता है कि रूप उसकी इंद्रियों से पैदा हुए जैसे लकड़ी पानी के भीतर तिरछी दिखाई पड़ती है क्योंकि किरणों का रूपांतरण हो जाता है पानी में किरणों की यात्रा बदल जाती है किरणें थोड़ी झुक जाती हैं उनके झुकाव की वजह से लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है हवा में किरणें एक तरह से चलती हैं झुकती नहीं है इसलिए लकड़ी तिरछी दिखाई नहीं पड़ती लकड़ी तिरछी नहीं होती लकड़ियां जिस किरण के आधार से दिखाई पड़ती हैं वो तिरछी हो जाती लेकिन वो तो दिखाई नहीं पड़ती किरण तिरछी हो जाती तो किरण की तिरछी होने की वजह से लकड़ी तिरछी दिखाई पड़ती है अस्तित्व तो जैसा है वैसा है लेकिन इंद्रियों से गुजर के जो ज्ञान की किरण है वो थोड़ी तिरछी हो जाए जानने का जो ढंग है वो बदल जाए माध्यम की वजह से जैसे कि मैंने एक नीला चश्मा लगा लिया और चीजें नीली दिखाई पड़ने लगी मैं चश्मा उतार के नीचे देखता हूँ देखता हूँ चीजें सफेद फिर चश्मा लगाता हूँ वो फिर नीली दिखाई पड़ती है अब मैं जानता हूँ कि चीजें सफेद लेकिन फिर भी चश्मे से नीली दिखाई पड़ती अब मैं ये भी जानता हूँ कि चश्मे की वजह से नीली दिखाई पड़ती बात खत्म हो गई हम्म। चीजें सफेद अब मैं भ्रम में पड़ने वाला नहीं अब मैं चश्मा नीला लगाए रहूं चीजें नीली दिखाई पड़ती रहेंगी और मैं जानू जानूंगा भली भांति की चीजें सफेद ठीक ऐसा ही आत्मा अमृत है ऐसा जानकर भी शरीर का मरण धर्म होना चलता रहता है अस्तित्व सनातन है ऐसा जानकर भी लहरों का खेल चलता रहता है लेकिन अब मैं जानता हूं कि वो चश्मे से दिखाई पड़ता है वो आंख है इंद्री की जो ऐसा भी इसलिए बुद्ध या महावीर या क्राइस्ट जैसे लोगों के वक्तव्य दो तलों पर है और हमारी कठिनाई ये है कि हम चूंकि दोनों तलों को अपने भीतर भी सम्मिश्रित कर लेते हैं हम उनके वक्तव्यों को भी सम्मिश्रित कर लेते हैं स्वभाव था कभी बुद्ध इस तरह बोल रहे हैं कि जैसे वो शरीर है जैसे बुद्ध कहते हैं कि आनंद मुझे प्यास लगी तो पानी ले अब आत्मा को कोई प्यास नहीं लगती प्यास शरीर को लगती है बुद्ध कह रहे हैं मुझे प्यास लगी आनंद तो पानी ले आ अब आनंद सोच सकता है कि बुद्ध कहते हैं कि शरीर तो है ही नहीं नाम रूप है बबूला है फिर शरीर को कैसे प्यास लगे जब जान लिया आपने कि शरीर है नहीं तो आप कैसी प्यास फिर बुद्ध दूसरे दिन कहते हैं कि मैं तो कभी पैदा हुआ नहीं मैं कभी मरूंगा नहीं तो अब सुनने वाले को कठिनाई शुरू होगी सुनने वाले की कठिनाइयां यह है कि वो सोचता है कि ज्ञान में अस्तित्व बदल जाएगा ज्ञान में अस्तित्व नहीं बदलता सिर्फ दृष्टि बदलती है और जब बुद्ध कह रहे हैं कि आनंद मुझे प्यास लगी तब भी वो ये कह रहे हैं कि आनंद इस शरीर को प्यास लगी तब भी वो यही कह रहे हैं कि ये जो नाम रूप का बबूला है इसे प्यास लगी अगर नहीं पानी डालेगा तो ये जल्दी फूट जाएगा वो इतना ही कह रहे हैं लेकिन सुनने वाले की कठिनाई यह है कि जिस तरह वो अपने अस्तित्व को मिला जुला के जी रहा है दोनों बातों को कभी भी नहीं समझ पाता कि कौन स्वर कहां से वैसे ही वो अर्थ वहां से भी निकालना शुरू इसलिए मैंने वैसा कहा